इस पर उन्होंने कहा इनको मेरे पास वापस ले आओ चुनाचे वो उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे